जाती न कालांतर में विचरती देशांतर च जो अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है न तो कालांतर में बदल जाते हैं न देशांतर में जाकर बदल जाते यहाँ जो अग्नि है इसको ले जाओ अमेरिका वहाँ ठंडा हो जाएगा ऐसे थोड़े वहाँ भी वही रहे गर्म ही रहेगा उबालेगा सब कुछ करेगा अग्नि तो अग्नि तथा इसी प्रकार तीसरी तरीका है प्रकृति को समझने का सहजा आत्मा सही जाता मैंने वस्तु की उत्पत्ति के साथ सच उत्पन्न है उसको सहजा कर आत्मा शुद्ध ब्रह्म नहीं रहना जैसे घट उत्पन्न हुआ घट के साथ साथ जो उसके उत्पन्न जो धर्म है उनको सहजा कर दे जल उत्पन्न हुआ उसको सहज धर्म है बहने लग जाता है उसको सहजा कर दे यथा पक्षी नाम आकाश गमन आदि लक्षण जैसे पक्षी आदि होगा आकाश गमन आदि जो आप अनुभव करते हो ये पांचवा है स्वाश्रय कारण जन्य तीर्थ स्वकाश जो कारण है तब जन्य को कहते हैं यहाँ पर और अंत वाला अन्य काचित और भी दूसरी देखी जाती है क्या अकृता के चिन्ह किसी के द्वारा किया हुआ नहीं यदा अपाम निम्न देश गमनादि लक्षण जैसे जल का निम्न देश आदि के गमन करने का जो अपना स्वभाव होता है इसको अकृता कहते हैं मूल कार्य नहीं का जन्या न तो अवान्तर कारण जन्या इत्यर्थ केवल मूल कारण मात्र जन्य अवान्तर और कारणों की अपेक्षा नहीं उसको अकृता लिया और अवान्तर कारण जन्य भी होता है सहजा घड़े का दृष्टान जो दिया था अन्य काचित स्वभाव न जाति सर्वा प्रकृति विज्ञया लोके विज्ञा लोके लोक में देखा गया इसलिए अन्य भी जो जो वे ये तो हमने चार आपको मुख्य रूप से गिना दिया है सांस्कृतिक स्वाभाविक सहजा करता और अन्य भी जो जो आपके दिमाग में समझ में आती हो जो अपने स्वभाव को तीनों ही कालों में त्यागता नहीं सा सर्वा उन सारे वस्तुओं को प्रकृति नाम से समझो इति लोके विज्ञा ऐसा ही लोक में जाना जाता है मिथ्या विदेश लोकेशु भी वस्तु प्रकृति नान्यता भवती मिथ्याभूत है कल्पित पदार्थ है ऐसी लौकिक पदार्थ वस्तु में भी आप देख लो उसकी जो प्रकृति होती है उसकी अन्यता भाव कभी नहीं होता किमुक्ता अजब स्वभावेश परमार्थ वस्तुषु अमृत लक्षणा प्रकृतिर धान्यता भवती अभिप्राय कलमुति ग्रह न्याय को दिखाने के लिए प्रयोग किया है जब मिथ्याभूत कल्पित वस्तुओं में भी अपने स्वभाव को वे त्याग नहीं सकते हैं जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है जो अज स्वभाव वाले हैं अमृत लक्षण है वे अपने प्रकृति को कैसे त्याग करके मर्त्यादि भाव को प्राप्त हो जाएंगे या कदापि संभव नहीं इसका तात्पर्य है अज स्वभावेश किम विषय पुनः प्रकृति यस्यता भाववाद विकल्पते कल्पनाया वा को दोष इत्याह किम विषय पुनः प्रकृति ही कहा जीवन का प्रकृति में भी आप जाना चाह रहे हैं उठाकर जीव में जीव ब्रह्मता बताना भी है ना इसलिए जीवन की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती जो लोग जीवन की उत्पत्ति मानते हैं उसका भी खंडन करना है इसलिए कहते कि देखो किम विषय पुनः प्रकृति उस प्रकृति का विषय क्या होती है बताओ जीवादी है क्या उसका विषय यस्य अन्यता वादी भी कल्पित है जिसके अन्यता भाव को वादियों ने कल्पना कर लिया और कल्पना को दोष और उनके अंदर कथन जो किया जा रहा है उसको क्या दोष है इत्याह तो जवाब देते जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभाव जरा मरण मिच्छंद शवंते मनीषया तप मनीषया जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे जीवा धर्मा ये समस्त जीवात्मा कैसे हैं जरा मरण आदि से वास्तव में रहित है स्वभाव से ही जरा मरण आदि से रहित है जीवात्मा और उसमें जरा मरण की कल्पना करके वो जीव लोग भी सत्य मान लिया अरे मैं मरता हूँ मुझे ग्रहण कर लिया अतः वे क्या हुए अपने स्वरूप से निकल पड़े अलग को च्युत हो गए हैं बंधने पड़ गए संसार में पड़ गए इसीलिए वे लोग जरा मरण में चिंता शवंते तत् मनीषया अपनी बुद्धि से उस चरामरण आदि को स्वीकार चाहते हुए उन लोगों ने अपने आत्म स्वरूप से वो गिर गए मन अलग हो गए संसार में पड़ गए समझो जरा मरण भी निर्मुक्ता जरा मरणादि सर्व क्रिया वर्जिता जरा मरणादि सकल विक्रियाओं से रहित हो के सर्वे धर्म कौन है वो ऐसा जरा मरण धर्म रहित सर्वे धर्म सर्वे आत्मा या जीवात्मा बोले सर्वे आत्मा तत्व स्वभावतः क्यों प्रकृतिता क्योंकि आत्मा का अपना स्वभाव है और जरा मरणा से रहित होता है स्वरूप स्वरूप से ही ऐसा एवं स्वभाव संतो धर्मा इस प्रकार के स्वभाव वाला होता हुआ भी उन जीवों के अंदर जरा मरण इच्छंत जरा मरण को चाहते हैं इच्छंत ही वह इच्छंत उनके चाहने से तो होता नहीं है इसलिए भाष्यकार कहते हैं इच्छंत ही वो जो चाह तो सकते हैं लेकिन होता नहीं कुछ इसे चाहने के समान चाहना है जिस प्रकार से रज्जो में वह सर्पम आत्मनिकल्प हो रज्जो में आप लाख कोशिश करो कल्पना करके सर्प को पैदा करने को लेकिन आपकी कल्पना करने मात्र से रज्जू से सर्प उत्पत्ति नहीं हो सकती है जैसे उसी प्रकार से चाहते तो है हम आत्मा में जरा मरण तो धर्म को उत्पन्न कर डाले लेकिन इनके चाहने से होता नहीं है कल्पयंत अच्छे बंद है लेकिन उल्टा होता क्या उससे और उनकी की हुई कल्पना के कारण से उनके भ्रांति से वजह दिखने लगता और घबरा जाते रज्जु में सबकी कल्पना कर लिया कल्पना के सर्व को देखकर घबरा गया वही हाल इनका भी है आता हुए जरामन को कल्पना किया और उल्टा बंधन में फंस गए इसलिए कीर मरकट की नाई तुलसीदास जी की बहुत सुंदर दृष्टान्त है ना बधे कीर मरकट की नाई हम बंद गए हैं है कीर मरकट के जैसे कीर एक पक्षी होता और बंदर के समान पर अभी अंदर कोई है नहीं बंदर चने के लालच में घड़े में हाथ डाल दिया घड़े का मुंह पतला था हाथ तो घुस गया यूं करके घुसा दिया उसने पतला करके हम हाँ, छोटी मुट्ठी पकड़ ली लंबी जोड़ी मोटी लालच में बाहर आता है नहीं घड़े से बाहर अब हाँ, वो कहते अंदर मेरे कोई मेरे को पकड़ लिया है ओहो हालत मेरी खराब हो गई अब पसीना गया परेशान होकर चिल्लाने लगा और बचाओ बचा हाथ निकल गया बाहर चना एक भी नहीं मिला हाथ निकले कौन पकड़ा कोई इसी तरह से हम चाहते हैं और उसे हम घबरा कर संबंध मान रहे हैं मान रहे हैं ना गलती तो यही है इसे कीर की पक्षी का भी दृष्टान्त वहां पर आया उसे तो जो पहले होता ना राहत ऊपर हवा में घूमता था और नीचे चरकी लगती थी पानी के भी पंचक्की भी बोलते थे उसको नीचे आटा पीसने वाला भी होता था पा, पानी उठाने के लिए होता था नहीं कार्य करते थे उस तो पंचक्की के पंखे के ऊपर आके बैठा हवा हवा कुछ नहीं था बेचारा ऐसी ही था ऐसी गर्मी का दिन होगा तब तो जैसे बैठा खट से नीचे आया पंखा धोए भाई वजन में आकर पक्षी अपना वजन है इतना हल्का होता हल्का सा हवा आ जाए तो घूमने लग जाए वो बस तो नीचे आने लगा तो पकड़ लिया पक्षी ने सोचा कोई मेरे को गिरा रहा है अब पंख पंख को पकड़ लिया पक्षी जबरदस्ती और ये सोच रहा है कि मेरे को पंखा ने पकड़ लिया अब हो गया मेरा कल्याण हम तो फंस गए बड़ा दुखी मुक्त होना चाह रहा है लेकिन मुक्त नहीं होता क्यों छोड़ेगा तो सोच रहे मैं गिर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा फिर मार डालेगा मेरे को इधर मेरे पकड़ रखा है मैं छोड़ना छोड़ने निकलना चाहूँ तो मुझे मारी ना इसलिए बेचारा छोड़ता ही नहीं पकड़े रहता है जाए चलाते रहता है अब इतने मान लो भगवान की कृपा से हवा चल पड़े वो पंख जैसे ऊपर आता है साइड से उड़ जाता है कौन उसको छोड़ा कोई नहीं छोड़ इसलिए बधेव की मरकट की नाई बहुत सुंदर दृष्टान तुलसीदास जी ने उठाया केवल अपनी भ्रांति है कि मेरे को किसने पकड़ा है अपनी इच्छा से मैंने इस आत्म में जरा मृत्यु को स्वीकार कर लिया और बंधन में फंस गया हम हाय है चिल्ला हो रहा है वही कह रहे हैं कि कल्पयंत चलन दे स्वभाव चलन दिता हो अपने स्वभाव ही बना ले उसे चलित हो गए जरा मरणादि मंदो दे तन मनीषिया जन्म मरण चिंतया जन्म मरण के चिंतन के कारण से तद भाव भावित दोष है ना यही दोष है कल्पना कर लिया तो क्या बिगड़ गया पूछा ना उधर क्या दोष है यही दोष है तो जरा मन के भाव से अपने आप को भावित करके वो सोचा लगता है हम तो भाई अनित्य हो गए अल्पज्ञ हो गए जीव हो गया है अब तो हमारा तो कोई कल्याण कर ही नहीं सकता हम तो पापी हैं ये है वो है दुनिया और उल्टा पुल्टा सोच कर लगता यही दोष जरा मरणादि चिंत मरण चिंतया अर्थात भाव भावित दोषेण तद भाव से भावित होकर रूपी दोष से वे अपने आप को विचलित कर लेते हैं ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है तत्सत्व संस्कृत दोषेण उसकी सतता से संस्कारित हो गया अपने अंतकरण वह दोष से युक्त हो गया अंतकरण होने से अपने आप को बंधन आदि को मानता है कथम सज्जादिवाद भी सांख्य अनुपन्न मुचत क्या कहते हैं कथम सज्जातिवाद भी सांख्य अनुपन्न मुचत इत्या प्रासंगिक को परित्याग कर दिया दोबारा वापस द्वैतवादियों के परस्पर विवाद में लौट रहे हैं प्रासंगिक कदम कर दिया कल्पना से क्या होता क्या नहीं होता अगर वापस लौटते द्वैतवादियों तो के विवाह के प्रकार को तो विस्तार करना है ना संक्षेप में कथन कर दे दस कारिकाओं में और अब बाकी इसका विस्तार करना है और स्वमत के लिए अलाद का दृष्टान्त बिलाएंगे अलाद शांति प्रदर्शन इसका नाम है अलाद को दृष्टान्त बनाएंगे अलाद क्या बिना अलाद का अलाद हो गया ऐसा करना नहीं है अलाद करते हैं पर लोग लोहे का तार होता है उस तार में कोने में कपड़ा को बांध देते हैं मिट्टी का तेल डाल देते हैं और उसने आग जला दिया और ऐसा तेज घुमा देते हैं और उसके बीच में से आगे उड़ रहा है बाघ उड़ जाता है शेर को उड़ा देते हैं सब उसमें कूद जाता है और किसी को आग लगता ही नहीं बाल तक एक बाल तक नहीं चलेगा ऐसी का और होता क्या है किनारे में पूरे में तो ही और आपको क्या दिख रहा है आपका चक्र जैसे दिख रहा है अग्नि चक्र दिखाया गया और इधर तेज घुमाया गया है उसको तो आपका जो लपट है ना बाहर की ओर चला जाता है और अंदर उसका आका खरे नहीं बीच युक्ति है घुमा देते ना आप घुमाएंगे तो क्या होगा लपट खा जाएगा भीतर थोड़ा घुसेगा तो बाहर की ओर फैले लपट जब अग्नि का लपट बाहर की ओर जा रहा है तो उसकी गर्मी कहाँ मारेगा बाहर की ओर जाएगा अब बीच का क्षेत्र ठंडा है कोई असर ही नहीं होता गर्मी का आराम से आर पार होते हैं कुछ नहीं होता तो उसको दृष्टान्त बनाए जैसा हो एक एम एव अद्वितीय है वो वो जो गोला में चक्र दिख रहा है वास्तव में है क्या वो एक में अद्वितीय है लेकिन अग्नि का चक्र जैसे जैसे दिखता है वैसे ही आत्मा एक वर्जित हो तो संसार चक्र के समान दिखाई देता चक्र के समान हमें अनुभव में अनुभव और वास्तव में है कहा ये सब आत्मा में नहीं है जैसे आग का लपट कहा गया बाहर चला गया वैसे यहाँ पर भी ये सब आत्मा में नहीं आत्मा से बाहर ही है मिथ्या है अच्छा जो स्वरूप में निष्ठा रखता है तो उसके साथ तो स्पर्श होता नहीं जो बीच केंद्र में चला गया वो अग्नि से संबद्ध हो गया और जब अपने स्वरूप में चला जाता है वह संसार के चक्र के दाहकत्व से वह दह दान होता नहीं वह मुक्त रहता है इसलिए अनेक बातें इस अनाथ चक्र का वेदांत के साथ अत्यंत सादृश्यता और दृष्टान्त को भी उत्थापन करने जा रहे हैं उसी की भूमिका की ओर पहले द्वैत का कथन आपस में क्या हुआ वो बता रहे कथन सज्जातिवादी सांख्य अनुपन्नम उच्चते सज्जातिवादी सांख्यों के द्वारा अनुपन्न कैसे उनका कथन इत्याह वैशिष्ट वैशिषिक लोग उसका जवाब देते हैं कारणम यश वही कार्यम कारणम तस्ते जायते कदम अजम भिन्नम नित्यम कदम सब सबसे वैशेषिक लोग सांख्यवादियों के तरह कथित सत्कार्यवाद को खंडन करने के लिए अनेक युक्तियां उत्थापन करने जा रहे हैं सबसे पहले बात करते कारणम यश्य वही कार्यम जिस के मत मृतिका के समान कारण ही कार्य है कारण ही कार्य हो गया यश्य मते कारण वही कार्यम भवती जिस सांख्यादि का मत में कारण ही कार में परिणत हो गया कहा जाता है उन और फिर भी क्या हो कहना चाह रहे कारणम तस्वीर थे उनको कहना पड़ेगा कारण उत्पन्न हो गया कार्य उत्पन्न क्यों बोल रहे वो जब कारण ही कार्य में उत्पन्न हो गया उनको ये कहना चाहिए कारण उत्पन्न हो गया और एक कारण उत्पन्न हो गया तस्म दे कारणमेव जायते उसके सिद्धांत में ते तो कहना पड़ेगा प्रधान अधिक कारण जो है उत्पन्न हो गया जायमानम कथम अजम उत्पन्न होता हुआ वह प्रकृति जो उनके यहाँ माना जाता है प्रकृति प्रधान वह अज कैसे हो सकता जब कारण ही कार रूपेण उत्पन्न हो गया फिर वह कारण अज कैसे हो सकता है दूसरी बात जो भेद वाला है महादादी भेद रूपेण परिणत हो गया भिन्न तथा नित्यम कथम अवैवश्य तो भेदन को प्राप्त करते जा रहा है वो नित्य कैसे हो सकता है अर्थात तो नित्य नहीं हो सकता इसका अवयवशा विभाग होगा वह कभी नित्य नहीं होगा जो कारण उत्पन्न हो जाए कार्य रूपेण वह कारण अज नहीं हो सकता और जो कारण कार्य रूप उत्पन्न होने के कारण से अनेक भेद स्वरूप प्राप्त कर गया है सावय हो गया है अगर अवश्य विनाशी होगा तो कभी नित्य नहीं हो सकता अतः सांख्य मत हमें स्वीकार नहीं है ऐसे वैशिष्ट कहना है इसका विस्तृत चलो करेंगे कारिका की व्याख्या चलेगी ना भाष्य कदम सज्जातिवादी भी सांख्य उपन्न उच्चता इत्याह सज्जातिवादी सत कार्यवाद कथन कर रहे सांख्यों के द्वारा जो कथित है वह किस प्रकार जरूपन्न है ये पूछे जाने पर वैशिष्य उसके जवाब में कह रहा है कारणम मृत वध मृतिका के मृत उपादान लक्षण यश्यवादी न वही कार्य कारणम एवं कार्याकरण परमते यसे वादि हो तभी यसे वादिना जिस वादी के मत में कारण कौन है मृत्यु कार्य समा कारण उपादान कारणों को लीजिए कोई कार्यम व कारण ही कार्य है मृत्यु का ही घट है अर्थात कारणम में कार्याकारण परिणमत कारण ही कार्याकार में परिणत हो गया दोनों में अलग अलग मत है कारण कार्याकार में दिखाई देने एक अलग चीज है कारण कार्याकार में जो आरंभ हो गया एक अलग चीज है और कारण कार्याकार परिणत हो जाना तीनों अलग अलग बात है कारण में कार्य दिखाई दे रहा है मैंने कारण अभी भी कारण ही है कार्य कुछ नहीं कारणाकार में कारण ही दिखाई देना विवर्तवादी है लेकिन कारण कार्याकार आरब्ध हो गया वो नया वैशेषिका दी और कारण कार्याकार परिणत हो गया ये सांख्य हो अब वैशेषिक शांति वाले बोल रहे ना ऊपर बोल रहा है इसलिए कहता है आपके मत में यश्यवादी न जिस वादी के मत में कारण कार्य कारण पर थे कारण ही कार्य रूपेण परिणत जब हो गया तस्जम प्रधान आदि कारणम मदादि कार्य रूपेण जयते इत्यर्थ आपका कहने का तात्पर्य हुआ जो अज है सत्य है प्रधान है नाम से जो कहा जाता है अजमेव सत प्रधान आदि और जो होता हुआ भी जो प्रधान आदि जो है ना कारण कार्याकार कार्य कार्य कौन मादारी कार्य रूपे चाहे थे ये आपने कह रहे हैं पहले उनकी बात को अनुवाद कर रहा है आप यही कहने का आशय है ना फिर दोष देगा आपका एक कहने का आशय है कि जो अज है होते हुए जो प्रधान आदि मूल प्रकृति संज्ञा से आप जो जिस चीज को कह रहे हैं वह कारण है और वो कारण क्या हो गया महदादि आकार परिणत हो गया यही आप कहना चाह रहे हैं यदि आप ऐसे बात कहना चाहते हैं तो महदाद्याण चित मान प्रदान कदम जो मुच्छत अब आक्षेप किया यदि महदाद्याकरण पूर्णत हो गया प्रधान तो गया दूध दही बन गया फिर भी दूध आ जाए यह कैसा होगा आज दूध से दही रूपी आकार परिणाम हो जाता है क्या है वो तो आपकी शब्दावली आप भले प्रयोग कर लीजिएगा लेकिन उस शब्दावली के प्रयोग करने से उसका अर्थ घटता है क्या कार्य में कहीं ऐसे कोई दृष्टांत अभी कहेंगे वैसे इसके लिए कोई दृष्टांत ही नहीं है बोलेंगे आप कहेंगे प्रकृति वैसे के वैसे रहती है और फिर भी परिणाम भी होते रहता है ये कैसा होगा आप पांच साल के बच्चे वैसे के वैसे रहे और दाढ़ी मुझ भी आ गया ऐसे कैसे होगा तो विकार के साथ ही परिणाम है बिना विकार का परिणाम हो ही नहीं सकता परिणाम मतलब ही है अवयव में विकार होना जरूरी और वो कहते साम्य अवस्था विषम अवस्था को आ अरे साम्य अवस्था बिगड़ गया ना इसका मतलब विषम अवस्था में आ गया ना नहीं नहीं साम्य होते हुए विषम भी रहेगा ऐसे कैसे होगा विरोधी बात है प्रकृति साम्य अवस्था में रहते हुए ही महज आदि विषम अवस्था को प्राप्त कर रही है इसका उनका कहना है अविकृत परिणाम किंतु यह संभव वही करे महदादि आकरण से जायमान प्रदानम कथम अजम उच्चते महदादि आकार से यदि उत्पन्न हो रहा है यह प्रदान फिर वो अज कैसे हो सकता है तैर विप्रशन इदम जायते अजंचीती उनके द्वारा विरुद्ध बात कही गई है यह प्रदान उत्पन्न हो रहा है मदाजा करेणा और फिर भी वो अजय ये तो परस्पर विरुद्ध बात आपने कहा इतना ही नहीं उस प्रधान को नित्य भी मानते नित्यम दईरुच्यत प्रधानम भिन्नम विदीर्णम स्फुटितम एक सत कथम नित्यम भवे इत्यर्थ उसमें भी आक्षेप प्रकटाओ कभी जो प्रधान है जो भिन्न भिन्न हो गया विहीर हो गया अनेक कारण परिणत हो गया स्फुटितम एक देश एक देश से जो है वह विभक्त सावय हो गया वो वस्तु ऐसा होता हुआ सत हो करके भी खत्म नित्यम भवे तो नित्य कैसे हो सकता है एक देश जैसे दृष्टा नहीं सावय घटा दी एक स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम लोके जो सावय घटा दिए हैं वो एक देश में स्फुटित हो गया नष्ट हो रहा है टूटा कुछ भी विकार हो गया फिर तो उसको नित्य करके लोक व्यवहार नहीं होता ऐसे कोई लोक में दृष्टांत नहीं मिलेगा आपको जो आप कहें कि भाई एक देश में विकृत हो गया फिर भी वो नित्य एक देश विकृत हो गया फिर भी यह वस्तु नित्य है ऐसा कहने के लिए इस लोक में कहीं भी प्रसिद्ध दृष्टांत नहीं मिलेगा न दृष्टम लोक है विदीर्ण एक देश है आज हम नित्यम चाहिए विभक्त भी हो गया तो आप विभक्त हो गया है और दूसरे आप कहते हो आज भी है नित्य भी है ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं जो विभक्त होगा और जो कार्यपेण परिणत हो गया उत्पन्न हो रहा है वो आज नहीं हो सकता जो उत्पन्न हो रहा है वो आज नहीं जो विभक्त हो गया वो नित्य नहीं हो सकता एक प्रतिषिधम तैर अभिप्राय सही ये है ये जो बातें उन लोगों ने कहा है वो परस्पर विरुद्ध बातों को उन्होंने कहा है ऐसा नया नयक और वैशिष्टिकों ने सांग ऊपर आक्षेप किया और दूसरी बात हम उनसे पूछेंगे अविकृत परिणाम वाद आप जो कथन करते हो इसका मतलब क्या हो कारण से कार्य भिन्न की अभिन्न प्रकृति से जो कार्य उत्पन्न किया महत्व तो है कहा प्रकृति में है या नहीं है प्रकृति में ही रहते हुए परिणाम हो रहा है क्या अविकृत परिणाम को समझना पड़ेगा सही सही परिणाम भी हुआ बोल रहे हो कार्याकरण परिणत हो गया कार्याकरण परिणत प्रदान से वह कार्य रूपा जो परिणाम है वो भिन्न है कि अभिन्न है यदि कारण से अभिन्न है तो खतरा भिन्न कहोगे तो खतरा एक कारण से अभिन्न हो गया फिर कार्य क्या रह गया अगर कार्य उत्पन्न है कारण भी उत्पन्न नहीं माना है अभिन्न है ना जो उत्पन्न वस्तु से अभिन्न हो गया मैंने ये भी उत्पन्न नहीं मानना पड़ेगा इसमें भी विनाशित अनित्यत्व आ ही जाएगा जन्यत्व आ ही जाएगा ऐसे वैसे भय से आपका नहीं भिन्न है पर परस्पर कारण का संबंध नहीं बनेगा इसे कहते कारणाद यदि अनन्यतम अथ कार्यम यदि जायमाराध्य वही कार्या ते कथम ध्रुवम कारण से यदि अनन्य है अथ कार्य मजम फिर तो कार्य अज हो गया तो कारण अज है उससे उत्पन्न कार्य उससे अनन्य है अभिन्न है फिर तो कार्य भी अज हो जाएगा या नहीं जो जिससे अभिन्न होगा उसका धर्म सुनना नहीं पड़ेगा आपको जैसे आप कहते ना अद्वैत वेदांति कहता है कि ब्रह्म से अभिन्न जीव है अगर ब्रह्म जैसा है वैसे तो जीव मानना पड़ेगा आपको ब्रह्म क्या है नित्य मुद्ध शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है तो जीव भी नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है ब्रह्म जो सत्य ज्ञान अंत रूप है जीव भी नित्य अनंत सत्य अनंत ज्ञान रूप मानना पड़ेगा जो अभिन्न है जिसका यही नियम है जो जिससे अभिन्न होता है वह उसी के धर्म वाला होगा इधर कारण से अभिन्न कार्य है कारण अज होगा तो कार्य भी अज मानना पड़ जाएगा और नहीं अलग कर दो भिन्न अब यदि जायमाना तो भिन्न कार्य उत्पन्न होता हुआ देखने से मालूम होता है निश्चित उसका कारण भी जायमानी है कारणम तो कथम ध्रुवम उनके मध्य बताओ फिर कारण ध्रुव कैसे हो सकता है जायमाना कार्य भिन्ना जो कार्य उत्पन्न हो रहा है कारण निश्चित रूप से जनक भी अनित्य ही होगा सत्य मानने में समस्या है वेदांत में तो उत्पत्ति मानते ही नहीं है इसलिए कोई समस्या नहीं बनता है उत्पत्ति मानोगे फिर कारण और कार्य का परस्पर संबंध होगा कारण के धर्म कार्य में मानना पड़ेगा और यदि नहीं तो, तो फिर कार्य धर्म कारण में माननी पड़ेगी जैसा कार्य कार्य में कार्य के आधार पर कारण का अनुमान होता है नहीं होता है कार्य को आपने देखा हुआ ऐसा है तो फिर उसका कारण जरूरी होगा कई बार होता है समझ में नहीं आता विचित्र मिठाई लाके आपके सामने रख दिया और आप उसको देखते रहेंगे खा भी लेंगे पता नहीं किस चीज से बनाया समझ में नहीं आगा क्या क्या डाला होगा इसमें कुछ चीजें है देखते या बता दोगे बेसन से बना हुआ है मैदा से बना हुआ है खोआ से बना हुआ है खट से बताओगे कार्य से भी कारण का अनुमान होता है और ये अत्यंत भिन्न कहोगे कारण प्रधान और माजादी कार्य हाँ, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कार्य को देख कर कार्य तो हमारा अनुभव का विषय है इसके अगर हम कारण का अनुमान करेंगे जिसने कार्य जन्य है अनित्य है से कारण को भी हम यही मानेंगे निश्चित कारण भी अनित्य होगा वो भी जन्य होगा इधर कार्य पंचमी प्रयोग है ना जायमानाधि वही कार्यात पंचमी इसलिए प्रयोग कर रहे कार्य को देख करके कार्य हेतु का अनुमान के द्वारा कारण को भी हम अनित्य कहेंगे इसलिए बोल रहे कथम वही ध्रुवम फिर आपके कारण नित्य कैसे हो सकता है वो भी अनित्य हो गया वो भी उत्पन्न ही होना चाहिए इसलिए अभिन्न पक्ष में समस्या क्या है कार्य भी अज हो जाएगा भिन्न पक्ष में काम तो किसने देखा नहीं प्रधान को इसलिए कार्य के मुझे प्रधान का अनुमान करना पड़ेगा तो कार्य के जब अनुमान करूंगा तो कार्य को देखते हुए हम प्रधान को भी अनित्य ही सिद्ध करेंगे अतः अर्जुन फंस गया कारण अभिन्न कार्य का परिणाम मानोगे तो कार्य अज हो जाएगा फिर इस कार्य के आधार पर मैं कारण का अनुमान करके उसमें नित्य को सिद्ध करूंगा कार्य कारण से अभिन्न रूपेण कार्य का परिणाम भी नहीं कर सकते वो और कारण से भिन्न रूप में कार्य का परिणाम भी व्याख्या नहीं कर सकते अभिकृत परिणाम बाद को उक्त सेवार्थ स्पष्टीकरणार्थम महा उक्त अर्थ को ही और स्पष्ट करने के लिए विचार किए जा रहे हैं और आगे कारणात्म ने अजात कार्य से यदि अनन्यतम यदि कार्य का अन्यतम इष्टम त्वया यदि आपके द्वारा कारण रूप अजरूपा कारण से कार्य जो उत्पन्न हो रखा है उसको अनन्य मैंने अत्यंत अभिन्न रूप मानना इष्ट है तो तथा कार्य अजम यदि प्राप्तम व्यर्थ कार्य भी अज हो गया मानना पड़ेगा उससे अभिन्न है तो निश्चित हो भी आज है यदि प्राप्तम दूसरी बात यह भी है विप्रसिद्धम कार्य अजंच क्योंकि कार्य शब्द का लक्षण ही ऐसा है कार्य कहते ही है उसको जो कृत है कृतिजन्य तुम कार्य जो कृति के योग्य है या कृति से जन्य है उसका नाम कार्य होता है अरे जो क्रियाजन्य होगा और वो अर्ज भी होगा तो परसविरुद्ध बात है कार्य भी है वो अर्ज भी है वो ये कैसा हो सकता है असंभव है शब्दार्थ ही नहीं घट रहा है आपका दर्शन के अनुसार तो ये करे कार्यम अजम चेती विप्रतिषिद्धम तव कार्य भी है अज भी वो हो यह तो बिल्कुल ही परसविरुद्ध बात आपके मत में इसे और भी आपत्त है कार्य कारण और अन्य जायमान कारण अन्य नित्यम चे कथम भवे और जो उत्पन्न कार्य को अवश्य कहेगा फिर ऐसा पक्ष में एक दूसरा उठाएंगे अन्य पक्ष में उत्पत्ति भी मान के चलो दूसरा दोषी भी आएगा कार्य कारण और अनन्य कार्य और कारण को जो अन्य मानोगे तो जायमानाध्य वही कार्य उत्पन्न होता हुआ कार्य को देखने से हमें लगता है कारणम अन्य कारण जो अनन्य है वो नित्य कैसे होगा ये कारण नित्य है तो कार्य नित्य मानना पड़ेगा लेकिन असंभव है इधर कार्य भी उत्पन्न होता हो कह रहे हो तो इसका कारण भी उत्पन्न होता हो मानना पड़ेगा अरे उत्पन्न होता हो माना जाएगा अनवस्था दोष ये उत्पन्न उससे उत्पन्न उससे उत्पन्न उस पर जाओ कहा तक जाओ अन्य मैंने अभिन्न पक्ष भाई मेरा भाष्यकार अभिन्न पक्ष को जोर जोर दे रहे हैं लेकिन टीका टिप्पणकार भिन्न पक्ष को भी दिखा रहे अभिन्न पक्ष में भी दोष भिन्न पक्ष में भी दोष आप हाँ, दोनों तरफ से दोष दे रहे हैं यदि कारण से अभिन्न कार्य कहोगे तो कार्य में अजत तो कारण अजय तो कार्य भी अज हो जाएगा अथवा दूसरा भी दोष रहेगा यदि कार्य की अजत तो नहीं मान के कार्य तो उत्पन्न है वो कहते हुए उस, उस जो भी बताया ना कार्य शब्द का अर्थ ही अजत शब्द अर्थ के साथ प्रसर विरोध हो जाएगा आपके मत इसलिए वो कहेगा ठीक है फिर कार्य हम उत्पन्न मानेंगे अज नहीं मानते जब तम में कार्य अजतम न तब कहेंगे फिर जन्य कार्य के आधार पर कारण में क्या हो जाएगा अभिन्न होने के नाते कारण अभी जनीय हो जाना चाहिए पर नित्य कैसे इस तरह से भाषा ले रहे अभिन्न पक्ष में ही दोनों को कारण से कार्य में अजत्व लाया और अब कार्य से कारण में अभिन्नत्व को लेकर के जत्व ला रहे हैं दोनों तरीके से अभिन्नत्व पक्ष में दोनों को ले रहे हैं तो हमारे लिए विरुद्ध नहीं है वो दोषारोपण ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो रहा है दोनों ही हमारे लिए स्वीकृत है कि वेदांति को इतने से तात्पर्य है वे वैशेषिक लोग सांग के मत में अभिन्नवाद में भी दोष उपस्थित करें और भिन्नवाद तो उसके मत में है ही नहीं कल्पना करके यदि भिन्न कहोगे तो यदि है ना इसलिए यदि करके स्वयं कार्य का कारण रख दिया यदि दोनों पक्षों को इस तरफ से घटाया जा सकता है उत्तरार्ध पूर्वार्ध दोनों को ही अन्य पक्ष में जैसे भाषिकार ने लिया वैसे भी ले सकते हैं और भिन्न वाद के रूप में भाव अभाववाद के रूप में अवच्छेद के आधार पर भी लिया जा सकता है तो ध्रुवम च कथम भवे नहीं कुकुटिया एक देश देखो दृष्टान्त तो स्पष्ट होता है कुकुटिया एक देश पच्चते एक देश प्रसवाय कल्पते इति नहीं अर्ध कुकुटांड न्याय अर्ध कुकुटांड न्याय है ना अंडे को लिया और आधा अंडे को काट दिया और क्या कि आधा अंडे से भोजन बना के खाएंगे और आधा अंडा बच्चा देगा तो आधा अंडा कहाँ से बच्चा दे देगा ये नहीं हो सकता जैसा कुकुटे कुकुटिया एक देश पच्चते एक देश प्रसवाय कल्पते नहीं कल्पते यथा तथा आप कहोगे भाई इस प्रकृति का प्रधान का एक देश जो है ना नित्य बना रहेगा फिर भी एक देश जो है प्रधान को प्राप्त करते रहेगा ये नहीं हो सकता उसमें है ना देख लो यहाँ पर दृष्टान को कैसे घटा जो न्याय लगाया इन्होंने प्रधान का एक देश को नित्य मान लिया फिर एक देश को प्रणाम होगा ऐसा हो सकता है क्या एक देश महद आदि प्रकृति प्रकृति जो है एक का एक देश महदात्याकरण परिणत होते रहेगा जैसे आधा अंडा जो बच्चा पैदा करेगा वो उसका बच्चा करेगा ऐसे करते वो परंपरा चलेगी और आधे अंडा ऐसे का ऐसे रहेगा नित्य रहेगा बना रहेगा ऐसा होगा नहीं हो सकता उसी तरह प्रकृति में भी आप इस विभाजन करता हुआ देशावच्छेद देना कालावच्छेद आदि व्यवस्था आप नहीं कर सकते कि प्रकृति का इतना हिस्सा नित्य बना रहेगा और उतने सी हिस्सा जब परिणाम में जगत को प्राप्त हो जाए जगताकार को प्राप्त होगा ये आप नहीं कथन कर सकते हैं क्योंकि अभेदवाद में भी कार्य के अनित्व को लेकर के कारण में अनित्व आ सकता है अतः कारण का नित्यत्व को लेकर कार्य में नित्यत्व आ जाएगा लेकिन दोनों ही पक्ष असंभव ग्रस्त है और दूसरी बात आज से जन्म का भी कोई दृष्टांत भी नहीं आपके पास अजात वही जायते दृष्टान नास्ति वही ज्यादा जायमान से न व्यवस्था सज्जत तद आजाद वही जायते जिसके मत में आज से किसी भी कार्य की जन्म की बात करता है उत्पत्ति की बात कहता है उसके मत में नास्त वही दृष्टान्त कोई दृष्टान्त तो दे नहीं सकता आविकृत परिणाम बाद जो है इसका कोई दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा जाता जायमान से फिर कहो फिर ये भी उत्पन्न भी उत्पन्न उत्पन्न से उत्पन्न हो रहा है उत्पत्ति हो रही है ज से ज हो रहा है कहते नहीं नव्यवस्था प्रसिद्धते अनवस्था दोष हो फिर हम पूछेंगे मूल प्रति किसे उत्पन्न हुई तो जिसे भी नाम लग दो एक आध उसको भी समूल उत्पत्ति कह दे उसका नाम है नहीं, नहीं कुछ नाम रखना पड़ेगा ना ये मूल प्रकृति है समूल प्रकृति एक अतिमूल प्रकृति एक विमूल प्रकृति नाम दिए तो जाओ पचास उसमें क्या है और एक जितने बाईस उपसर्ग हैं लगा दो बाईस कारण और बन जाएंगे कम से कम नहीं हो सकता है क्या लेकिन फिर भी उसकी अनवस्था दोष बनी रहेगी है ना सब पाताल में क्या करते अतल वितल सुतल ये तो दिया ऐसे अच्छा, यहाँ पर बना देंगे कारणवाद करते लेकिन फिर भी अनवस्था दोष से आप बच नहीं सकते है जहाँ आप रुकोगे या उसी में पूछेंगे वो नित्य क्या नित्य पूछूंगा क्या वो कहना पड़ा उससे सब उत्पन्न हो रहा है इसलिए वो भी अनित्य है हुआ फिर वो किसे उत्पन्न हुआ जहां विश्राम पाओगे उसी विश्राम पे प्रश्न उठेगा तो वह नित्य ही अनित्य है उससे उत्पन्न हुआ कार्य उससे अभिन्न या भिन्न है सारे पक्ष उठाएंगे वहां अतएव आपको मानना पड़ेगा उत्पत्ति होती नहीं व्यवस्था नहीं दे सकते उत्पत्ति का तुम जब जगत उत्पत्ति की आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं इसलिए घबरा कर क्या करोगे अनादि बोल दोगे और क्या व्यवस्था नहीं है दिमाग दिवाला हो जाए दिमाग सब थक गया जितने भी व्यवस्था देने की कोशिश सब फेल हो गया अब एक हो गए अनाधिकार से चले आए अरे अनादि कोई जवाब है कोई व्यवस्था है क्या ये अनादि तो हाँ अज्ञानी को समझाने के लिए वेदांति ने भी अनादि कह दिया छह चीज को अनादि कह दिया ये तो व्यावहारिक सत्ता को लेकर के कह रहा हो सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर होगी सृष्टि दृष्टिवाद में छह चीजों को अनादि मान लिया जो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है वहां तो कोई प्रश्न नहीं उठता कोई चीज को अनादि कहना इसे कहते हैं कि व्यवस्था आप दे नहीं सकते न व्यवस्था आप सज्जते दोष के रहते हुए और भी दोष का कथन कर रहे किंचान्य अजाद अनुत्पन्नात् नित्यादसन हो जायते यश्यवादिना कार्यम दृष्टान्त तस्दात्य वही तो किंचान्य तो दूसरी बात ये भी है अजात मन अनुत्पन्नात् जो अनुत्पन्न नित्य वस्तु नित्य वस्तु से जायते उत्पत्ति यश्यवादिन जिस वादी के मत में है क्या कार्यम जायते उसका अनुभव होगा वस्तु से कार्यम जायते यसी वादी न कार्य की उत्पत्ति जिस वादी के मत में है तस्य वादी न मते दृष्टान्त नास्त वही दृष्टान्त हो नहीं सकता दृष्टान्त वाले जब कोई आप कुतर कर सकता है आज से उत्पत्ति का कोई अभ्यास प्रमाण नहीं है आज से उत्पत्ति होती है इसमें दृष्टांत नहीं है तो वो पुरुष किया अज से उत्पन्न नहीं होता इसमें क्या दृष्टान्त बताओ आपने मेरे पर कहा अज से उत्पत्ति नहीं होती इसमें कोई दृष्टान्त नहीं ठीक है मान लिए मेरे पास कोई दृष्टान्त नहीं है आज से किसी चीज का जन्म को दिखाने के लिए हमारे पास कोई दृष्टांत नहीं है आप बताइए आज से जन्म नहीं होता है इसमें कोई दृष्टांत हो तो बताओ हुँ? हम्म? आज से जन्म नहीं होते से तो क्या दृष्टांत है आपके पास आपके पास कोई दृष्टांत नहीं बराबर हुए ना दोष तब भाषिका भ सतर्क यहाँ पर इसलिए कहते हैं अर्थात सिद्ध हो गया अर्थात यह बात सिद्ध हो रहा है अजात किंचित जाए दे दी अर्थात स्वतः ही यह बात सिद्ध हो गया जब अज से कोई चीज की उत्पत्ति हो नहीं सकती तो अज से अनुत्पत्ति का भी कथन नहीं हो सकता इसलिए अर्थात अजात न किंचित जायती सिद्धम भवती इसलिए टिप्पण दिया ननो अजात न किंचित जायती थी न प्रमाणम दृष्टान्त समझना जैसा कहें अजात जायते इसमें दृष्टांत नहीं आते वो अप्रामाणिक है तो अजात न जायते इसमें दृष्टांत है इसलिए भी अप्रामाणिक ऐसे कोई कह सकता है तब जवाब देते कि नहीं नहीं अर्थात अजात जायते दृष्टान्त अभाव रूपी अनुपत्ति प्रमाण से यह बात स्वतः सिद्ध हो गया आज से कोई चीज की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती यदा पुनर्जाता जायमान से वस्तु विपदम यदि कहा गया भाई जन्य से जन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है मान लो एक जन्य वस्तु से दूसरा जन्य वस्तु की उत्पत्ति होती जाएगी ऐसे काम दे देंगे तदपि अन्य जाता तदपि अन्य न व्यवस्था थे अनवस्थान सियादित फिर परंपरा पूछते जाऊंगा वह उससे वह उससे वह उससे चलते रहेगा और उसका कोई अंत ही नहीं मिलेगा अव्यवस्था दे नहीं सकते अतः अनवस्था दोष ग्रस्त हो जाएगा और दूसरी बात जिनवादियों का मत में यह है भाई ठीक है पूछा जाए सांख्यवादियों से ही भाई प्रकृति जगदागन परिणाम हुई कुछ संख्य मान के चलता चलो परिणाम क्यों हुई क्यों हुई फालतू का है कोई कारण तो होना चाहिए तब वो कहना पड़ेगा कि पिछले संसार में उसने काम किया अरे वो संसार कहां से आया था कौन सी जीव के कर्म के वजह से आया जीवन के धर्माधर्म के कारण से जगत और जगत के कारण से जीव धर्माधर्म अन्य सर्दोषग्रस्त है राधि फलम ये शाम आदिर हेतु फल से हेतु फल से अनादि ही कथम तेरुपवर्ण्यते और ये बुद्धि जब हार जाए तो उसको कहना पड़ेगा अनादि तो सिद्धांत से कथम अनादि अनादि आप कैसे खत्म कर सकते हो हेत तो हो आदि फलम जिन वादियों के मत में हेतु कौन है धर्माधर्म फल क्या है संसार पे जगत की जन्म कहते हैं कि जिनके मत धर्माधर्म आदि के कारण ही देहादि संघात में सृष्टि हुई पुण्य पाप के कारण से देहादि की सृष्टि हुई हेतु तो पुण्य पाप आदि का फलम कारण देहादि समस्त जगत तो धर्मा धर्मादि का कारण कौन है देहादि है और देहादि का कारण कौन है धर्मा धर्मादि है फल से चरा हेतु आदि हेतु रेव आदि मैंने कारण धर्माधर्म का कारण कौन है फल है और फल का कारण कौन है धर्माधर्म है अर्थात धर्माधर्म के से जो है जन्य है आपका जगत शरीर आज समझ जगत शरीर है है मतलब जगत संपूर्ण धर्माधर्म से जन्य है जगत और जगत से जन्य है धर्माधर्म तो अन्योन्य आश्रय दोस्तों स्पष्ट है इस अन्योन आश्रय दोष से बचने के लिए बीजाम को न्याय के आधार पर अनादि कहना पड़ेगा आपको खेत तो फल से अनादि ही कथम तवीर्भ वर्णित हेतु और फल के अनादित्व का वर्णन कैसे कर सकते हैं बताइए जब एक दूसरे के प्रति वे कारण है तो वे अन्योन्य से ग्रस्त हो जाएंगे तो उनको आप अनादि भी कहा नहीं सकते दोनों ही अनादि है वे तो दोनों के प्रति का अनुभव वाणी क्यों रहे हो परस्पर संगत है ना दो जैसे सिंह इकट्ठे पैदा हो जाते हैं दोनों एक साथ पैदा हुए उनका कोई परस्पर कार्य कारण हो नहीं होगा अबे भी ये सिंह के प्रति वो सिंह कारण है वो सिंह के प्रति ये सिंह कारण है ऐसा कैसा होगा जैसे दो सिंगों का परस्पर कार्य कारण भाव नहीं हो सकता इधर दो अनादि वस्तु का भी परस्पर कार्य कारण भाव नहीं हो सकता का अनुभव तभी होगा जो वस्तु दोनों अनादि नहीं है किंतु दो का पौरापर की व्यवस्था हो एक पहले था और एक बाद में आ गया अरे पहले वाले जो था उससे बाद वाला पैदा हुआ तो घर का बन जाएगा है या नहीं और ये दोनों ही अनाधिकार से कौन किसका कारण कौन किसका जो कार्य होगा व्यवस्था तो सही नहीं सकते इसे कहते कथम तय अनादरित वर्ण तो किस प्रकार इन दोनों का बना आप कह सकते हैं एक तरफ से उनको कार्य का अनुभव भी मान रहे हो और दूसरे तरफ अनादि भी कह रहे हो ये कैसा होगा जो आदि वाले हैं वे अनादि कैसे हो सकते हैं एक तरफ आपने उसको आदि वाला मान लिया इसका आदि वो उसका आदि वो और दूसरे कहते हैं अनादि भी है ये कैसे कथन पर विरुद्ध बात ये भी है ना तीसरे तो कहते ये भी बात उनका धर्म आते परमार्थ तो द्वैताभाव श्रुत्योक्त तम आश्रित्या द्वैतवादी ने पूछा प्रतिक्षेप से जो है जो प्रसिद्ध कर रहे हैं तो उस बीच में जो यत्र तो सर्वमात भूत जहाँ सब कुछ आत्मरूप ही है इत्यादि जो पारमार्थिक सिद्धांत जो द्वैता भाव है श्रुति से उक्त है उसको आश्रित